पति सिर देखत मन्दो दरे विकल धरन झरसि परी जुबते वृन्द रोवत उठि धाये तहि उठाए रावण पहियाए पति गति देखिते नहीं बपुस संभारा उड़ताड़ना करही करी रोवत करही प्रताप बखाना, पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी स्त्रियां रोते हुए उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी उनके बाल खुल गए देह की संभाल नहीं रही वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं तव बलनाथ डोलनित धरनी तेज तेजहे न पशि तरणि से सकमठ सही सकहि न भारा सोतनुभूमि पर छारा वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन मुख धरी काहू न धीरा भुज बल जीते हो काल जम साए आज परे हो अनाथ के नाई वे कहती हैं हे नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे नहीं तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया हे स्वामी तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो जगत विदित तुम्हारी प्रभुताए सुत पर जन बल बरणी न जाए राम विमुख यस हाल तुम्हारा रहन को कुल रोव निहारा तब बस विधि प्रपंच सब था सभय दिशि पनित नावहि माथा अब तब सिर भुज जम्बुक खाहे राम विमुख यह अनुचित नाहि तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया हे नाथ विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है अर्थात उचित ही है काल बिबस पते कहन माना अग थो मनुज जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरप्रिय भज नहि करुणामयम् आजन्मते पर दोहरत पापौघमय तनु तनु अयम तुहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्मणि रामयम दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ अहनाथ रघुनाथ समा कृपा सिंधु लहियान जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दे भगवान अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है